भला क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत के अंदर जा पहुंचोगे हालांकि अभी तक अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जांच कर नहीं देखा जो जिहाद करें और न उनको जांच कर देखा है जो साबित कदम रहने वाले हैं